सिंह ने कहे वो बादशिया कहे आप पहले की तुम्हारा मगर मैं कामदार हो जो आप प्रसाद विदा करते हो ना अभी मैं अपना वो माता जी बकरी बने जो वो बाकर मैंने ले और उनमें दूध पी और ये तुम्हारी और जूनी पूरी करनी है और आप रघु तो वो भाषण है वो राजा पूछे सिंह ने कामदार वो दूध कम काम हुआ दूध काम कोई पोटी हुए या कि नहीं कोई अड़ी कलम ला ओम दूध वहाँ ले जाए बाल्टी में पानी छटा लगे नाम लगे तो शरीर रंजन मंगल अच्छा तो दूध काम रो तो अब बांध रहा पूछे भाई तू कहीं उफाड़े करेगा lakotari वो मैंने देख पा रहा जी पहले तो आप मैंने लाटा भी बढ़ा था और वो भी अगर आप बढ़ाए तो भाई पिपला पत्ता पिपला तो भाई वो पिपला पत्ता कहीं काम आवे पिपला पत्ता वो काम आवे कोई आंधो आज आदमी અને પીપળા પત્તા કુકોડા લે મસાલા आंख આંખ હાલ હોય आंख આંખ પંચર ಹೆಣ್ಣಗೆ ಧಾರೋ काम बढ़िया है जो तो वो कोडियर कल जड़दा जड़ी पकड़ी है की जगह थो तो है रे एथो तो जो आपने आपा नेड़ी ऊपर वो झरनो है जो पांडव तापे वो भाखर चोटनो मैं हाँ। चोट ने हपा नेड़ी ऊपर पांडव थावे नेड़ी नीचले पर झरनो उन जगह मारे नामकरण कोर्ट जना तो राजा राजा भी बताए थे कि मारो धन गाड़ियों के में ध्यान रखो और सिंह भी बकरी बताए थे और बानरे भी पता में बताए थे भाई आंखें में वो बात पूरी पूरी उन्हें बल्ले पर रहा उन्हें जो पता तो वो घोड़ा मार्शल आंख में पहले तो आंखें दो ही बल्ले घूमने काटी वो तैयार है पर लोग कह रहे राम जी बहुत अच्छे काम किए तुम्हारी में तैयार है और अब वो भाषण बताए माल करने वो भी मैंने नहीं और शिंगरी और रो भी ताजुब करूँ कि भाई वो वास्तव में शिंगरी बकरी को लग जड़े या नहीं जड़े अब बोलो बैठ तो बैठ तो बैर तो भाई शहर में राजा रखो और राजा रखो ओल्ड के अगर राजा रखो तो की कमी है जो पहले माल आए और दाई दियो तो दस रुपया मिले हमने बीस बीस मिले हमने मिले हमने पचास पचास मिले हमने वो इन डंगरी मजूरी खोली तो मुल्क महीना राजा और मजूरी डबल करे guardando तो राजा बनाने बनाना होगा को नहीं करना करवानी बात और राजा बने जा रहे नहीं बनाई बात की कौन कह सकता तू कहीं भी बोले तो बता भाई मैं तो थे आँख यहाँ काटे जाना मैं ये रात पड़ गई पीठ पड़ ये रोजा है मात चढ़ी उम्र नहीं जाए छेंगन एक वासन एक बाल तो आया रात भर बाल है कि के पीठ पिंपला baixa para o अगरि बैंक भाषणावाळो गाॾे भरनि त तो धोरण लायो इन वास्ते तो मजदूरी को नहीं तो डबल तो पैसा दे रहा ॾियूं मज़ूरी पगाई करो तूं बि मज़ूरी करे बैठो रहे थाल छाड़ा अथई रोटी जी और मज़ूरा थोरो मार थारा पैसा चीज़ बोले जा और तूं पूरा ही कोन भाई भला तू राजा बनो और मैं भाई दे कर्मा की बात है तू है बोंडो जो कुमारी से आँखें और मैं बोलो तो थारे हाथ पहले ज़मीन भी थने घणी देवी घर में ईशो बि थने घणो थियो और मजूरी करना थने हाथे लायो तो थे हमारी आंखें काटी अब तुम जान रावड़ महीना तुम थारी बुझे के वे वो बम भी हो तो यह काम थारा ठीक नहीं है गुंडा ही करी तो थारा ही कर ला नहीं मैं तो राजा बनूँ और मैं तुम भी उन्हें भी तक पहुँचा भाई जा बल्लो टेमट की रात जाए ಬಲ್ಲೋಚಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾತನ್ನು ಅವೆ ಅವಕಾಶನ ಶೇಂಗ ಪಾನವನ ಮಿಶಾಮ ಮಿಶಾಮೆ ಟೀಮಾಣಿ ವೆ પેલી બહુમાં પૂરા જહાનું કામદાર હોય એની ભાષામાં પ્રેમ હોય આયા તય કરી કે કયો ક્યારે ભાઈ રાજા બોલો ભાષા ક્યારે મારે હંમેશા ઈતો તો ધનો જુગ મેં પહેરતો જુગ મારે ઉતરવાનો અબ થોડા ધનો યા રેડી આપો હવે ખાટું પડે મારે સાહેબ ધન લે ક્યાં કે શેમ બોલ્યો યાર એક મારી બકરી દોડી वो दूध गुण गुण कोई चोर લાગુ આપણે વાત તો નહીં કરાવને આપણે વાત પણ નહીં જવાય કે વડા કોઈ આપણને પીપળ હાડમાં તો કોઈ નહીં આવે બાદ રાખી યાર થારી ચોરી हुई થારી ચોરી તો મેં મારે હવાડો કે બાદ વચ્ચે પીપળ ઝાડમાં જઈને કંઈ ઊંડું આવે આ ઊંડે केबादले केवल चोर तो लात को चोर लात को मास तो ऐ तो है खावे दल्ले को दू दिले को मारे जन्म ने और पटक्यो सिंह ने और भाषा ने भेड़ा जान पर मुनि का मेरे हुकुम आई जब दिलाए गए अजरत नहीं तुम का जगत के दे दे शुभ अनुग्रह तुम्हारे दे दे राम द्वारे तुम रघुवारे होदन क्या बिनु पसारे सब लय तुम्हारी शरणा तुम रश्या को ना आप ते समारो आप तीन लोग भांगते काम में भूत भी जान निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे महावीर बड़े शकारे हरे सजीवन प्राण उबारे पेटी पताल ने चमकारे रही रमन की भुजा उकारे बाया भुजा सुगल मारे शैले भुजा सुनंदन तारे सुनन मुनि आरती उतारे जय जय जय हनुमान उतारे कंदन थार कपूर ओछाए आरती कर अजनी माए जो हनुमान जी की आरती गावे वशी में कुम पद पावे जय बोलो बजरंग बली की जय हो ईश्वर ने भला दे तो विरात्रो जोग माया रो जो मेड़ो बारह महीनों तीन वाया ब्रिज जाए चोट करीब पाँच किलोमीटर आगे विरात्रो नाम जो भाखर तो जोग माया भाकर तो उन जगह भेड़ जी एक ढो गांव रह महीने रहता छोटा माना माइल तो चल गया और एवड चला एवट चराता एवट चराता रहना भाखर भाखरे में ले जाता और जो वो नाम ले नाम लेता लेता तो हो जाए कहीं कर दे के यूं ये करे के जो माँ माए इतनी वे जना इन जन्म में मन टापर करने पड़ते तो एड़ी बालड़ी रोटी और हर टाइम थोड़ी ठोलियो माथे रखता वो काम नहीं करे नहीं करे नहीं करे तो जो वो नाम जना पाचा शाम रहा यूं करता करता जब तुम्हारी मेहरबानी हुई ईश्वरी मेहरबानी वह जना कौन फोरो नहीं हुए तो वो भी तो जो माया कहे भेड़ हाथ तक नहीं बात कर तो माता जी मैं बात नहीं करी तो भाई आज थारे लारे तो कोई तो थारा भाई लारे आयो इन वास्ते भाई आइंदे रे वास्ते तुम ओ बात कि नहीं कर दे तो मती और तू याद करी तो मैं थारा भेड़ আর এই કે જોટો બીયા બતાતા હું આની કરતા ઓર જમીરો આશીન રહેતા ઓર એસુ ગુયુ તું પેડરો જો ખેદ બાઉ જીતો પાઉ એ વિચાર લે મને ન પેડરો લેતા તો આની ઇત કદર ઓર ઇત પાદ માની હે કે જો મારા શરીર પર ઓરાગા એ બાત આનો અભેજી હે શીંગે બનાવી દિયા ઓર ઓ ભૂમિ આલી કરે ઓર ખેદરાશ ઈ આવણી તો ઉન આવણનો એ કામ કર દિયો જતે ભીણજી ભીણજી રે સાત બેટા યાર ભીણજીને જો ચામ મુસલમાન દુઃખ દિયો જનાવનો બો ડૂબેની સમુદ્રની અંદર પાટો કાંજનો ભીણજીને તેરા ઇતના બો और रथ लेगा रथ रूम और भीम जी ने बचाए जो माया भीम जी ने शता करी और मंदिर बनायो और पैर इन जगह पूरा कशम है बैर और बैरबाजी तुरनियरो थान और जो खील डेरी और वो जो आवण है थे ढोक गानियों जो विराट है भागे भागे आवण देखो कितनी आवण है कि आदमी रुके तो इतनी देखे ए जब तुम्हारे बच्चे हूँ रिवी और जो ए जो मेरा पूजा रहा है जो बड़ा निकाले और चूड़ा निकाले और बाद में पुरुष दुश्मनेड़ो है तो इन जगह जो वो आया आने नाने रे तो लोग राम जी तो आने भी तो जो मैं पूजा और जो मारी बात तो खैर पूजा नहीं तो नहीं है पर जो मैं जाड़का मिटाई वास्ते आनी खेड़ गई वो बात चली और সারা 到我。 කරන්නේ Simple නඩිරෙන්න මිලේ. Simple நாடி ஷனாவ இருக்கனே உன் மாத்தன் இல்லையா तो पाया मोती खावरों मोती फोड़ो फोड़े विचार करो मोत तो बढ़िया और सदाई बढ़िया एनीवे आप मोती मतलब ला कोडो भी जगह los con la Gracias.

तो शेठ लड़की नाम लुगाई नाम के उपाधि बारह दिया बोझ करी कोटे काल रे देखियो वो काम तो आपा करियो पण अबे आपा बादशाह है डोली रे जा फन रे जा जे जगवा बादशाह ने इनका बाप कौन बादशाह फिर ठीक हो पाएगा अगर काम करना फिजा करें जो भी बतावे बोल और इनका ना रो मोटी दे खनवाया एड़ी खुने मावे बोध दे यूं नख नख दिखावे तो चिपे मुझे लारी कितने तो बोध टेरो पर वो पंगा ना छोड़े नहीं वाच होता है गेला है 那你就。